संसार को भस्म कर सकती है पर ये मनुष्य के जीव के किए हुए पापों को भस्म करने की अग्नि है स्थूल अग्नि जो है ये जो दृश्य अग्नि है उसमें पापों को भस्म करने की शक्ति नहीं है और राम नाम ये शरीर के किए हुए पापों को भस्म कर देता है इसलिए अग्नि से भी बढ़कर इसी प्रकार जैसे भगवान भास्कर पूर्व दिशा में पूजित होते हैं और पूजित होकर के सारे विश्व का अंधकार निवृत्त कर देते हैं अब सूर्योदय हो गया और अंधकार का कहीं पता है तो सूर्य उदित होकर के संसार का अंधकार से निवृत्त कर देते हैं पर हमारा हृदय का जो अंधकार अज्ञान है रस सूर्य की उदय हो जाना तो हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त नहीं कर सकते और राम नाम वो सूर्य है इसका आश्रय लिया जाए तो हमारे हृदय का अज्ञान निवृत्त हो जाता है इसलिए सूर्य से ही बढ़कर इसी प्रकार के चंद्रमा उदित होते हैं तो सूर्य की रश्मियों का संताप सब निरस्त हो जाता है सारे विश्व में शीतलता छा जाती है तो चंद्रमा उदित होकर के बाह्य शीतलता प्रदान करते हैं पर हृदय हम लोगों के जैसे तो रागत देश के जलते रहते हैं शहर चंद्रमा में उदित हो जाए हमारे हृदय को शांत और शीतल नहीं बना सकते और राम नाम हो चंद्रमा हो ये हमारे हृदय को शांत और शीतल बनाता है इसलिए भगवान का मधुर मनोहर मंगल रहना जो शरीर के किए हुए पापों को भस्म करता है हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करता है हृदय को शांत और शीतल बनाता है ऐसा भगवान का नाम पूर्ण दो बार में जो राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम एक बार युद्ध भगवान प्रतिबिंबित हो रहा था और उसमें बाल्मीक प्राणायाम में आता है कि लक्ष्मण जी का मेघनाथ से तीन दिन और तीन रात बराबर युद्ध होता युद्ध की मर्यादा होती है कि सायंकाल को युद्ध बंद हो जाता है लड़ने वाले लोग विश्राम करते हैं पर ऐसा एक बार युद्ध छिड़ गया कि तीन दिन हो गए और तीन रात्रि हो गए बराबर युद्ध हो रहा है सब लोग थक गए लक्ष्मण जी जो शस्त्र देखते हैं उनका पार मेघनाथ पर पूरा कर देता है मेघनाथ जो अर्थशस्त्र छोड़ता है उसका श्री लक्ष्मण जी प्रतिकार करते हैं भमसाम युद्ध हो रहा है लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो राक्षस बड़ा बलवान है तो हमारे वस्तु बात नहीं जैसे मेरी बुद्धि ने यह निर्णय किया तब उन्होंने एक दाम निकाला और धनुष पर चढ़ाया और प्रतिज्ञा की उन्होंने धर्मात्मा सत्य संघर्ष रामो रक्षण यदि अगर भगवान राम धर्मात्मा है और सत्य प्रतिज्ञ है और प्रलोक नाम प्रतिज्ञ और त्रिलोकी में ज्योति बराबरी का कोई नहीं है तदेनम जहरावन तो ये बाण उस मेघनाथ का सिर काट दो तो वो बाण लेकर के धनुष पर चला करके ये प्रतिज्ञा की जो बाण छोड़ा मेघनाथ का क्षेत्र कर तो रामो विद्या राम धर्म साक्षात धर्म की मूर्ति है जो भगवान का आप नाम ले रहे हैं श्रेय प्रवाह श्री राम जय राम जय जय राम क्या संसार में ऐसे फंस गए हैं संसार में मन ऐसा फंसा हुआ है तो परमात्मा की ये परमात्मा का स्मरण नहीं है विकट स्मरण विस्मोह हो जो हम भगवान को भूल गए हैं वो सारी विपत्तियों का मन संपन्न नारायण स्मृति ही और पूर्वी हमारी क्या है संपत्ति क्या है कि नारायण का स्मरण भगवान का स्मरण यू हमारी संपत्ति है ये हमारी पूंजी है जो दिन आप चले जाए तो ऐसे दिन आप लोग कि एक एक लाख नाम का जप कर लेते हैं निरंतर भगवान नाम जप कर रहे हैं काम सुंदर को भी तो वो उनकी एक पूंजी है उनके पास संपन्न नारायण स्मृति करते हुए अरे ब्राह्मण एक लाख गायत्री जग में कलपति हो गए और एक गायत्री का जब कर लिया करोड़पति हो गए तो ये गायत्री के जप से गायत्री का जो जप है वो ब्राह्मण की संपत्ति है संतों की संपत्ति है कहा उन्होंने तो विपद सर्वसोई जब तब स्मेरन भजन जब जीव आपको विमुख हो जाता है आप फैसलों नहीं होता मन नहीं होता ध्यान नहीं होता ये सारी विपत्तियों का मूल तो ये है संपन्न आ रहा है स्मृति आप जितना भगवान का स्मरण कर लेंगे इसलिए स्मरण कर दिया हर सर्वतम स्मृत विस्मरण कर दिए जाए हर समय परमात्मा का स्मरण करते हैं स्मरण विरुद्ध पहले मेरा स्मरण कर पीछे जहां भीष्म पिता के बाण आ रहे हैं द्रोणाचार्य के बाण आ रहे हैं वहां भी भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करके युद्ध पीछे मेरा स्मरण पहले नाम अनुस्मरण युद्ध जैसे मेरा स्मरण कर फिर युद्ध कर स्मरण कर दिया है सत्संग स्मरण कर दिया सतत परमात्मा का निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो भूलो न स्मरण मत होने दो परम भूमि संसारा जितने भी विधि और विशेष जन्म मेरे बात हैं उन दोनों को चिंता है विकास में इसका अभिप्राय आपने समझा भगवान एक तो भगवान का स्मरण है और एक भगवान का दुश्मन भगवान का एक मन है उसकी उसकी जो है सेना कौन है तो जितने भी प्रेम है उसके साथ है आपके हृदय में विराजमान होगा आपके हृदय में वो स्मरण रूपी सम्राट जब आएगा तो सारी पूर्ण जो उनकी सेनाएं सब उसके साथ में है जब भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं पैसा तो कम पुण्य है जो आपके साथ में ज्ञान का पुण्य तीर्थ का पुण्य गंगा स्नान का पुण्य यज्ञ का पुण्य सारे पुण्य उसके साथ रहते हैं और जहां भगवान का विस्मरण है वही सम्राट है उसकी सेना को तो है जितने पाप हैं सब उसके साथ है जिसके हृदय में भगवान का दुश्मन की सम्राट है भगवान को भूल गया तो मानो कौन सा ऐसा पाप है जो भी उसके साथ नहीं तो भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा प्रेम भगवान को भूलना ये सबसे बड़ा पाप स्मर कर रहा है सत्संग जिसमें सब लोग धर्म हिंद से काम करना है विश्वात्मा सूर्य से हरि हमारे हमारा वही जन्म वही कर्म वही आयु वही मन वही वाणी सार्थ है जिसके द्वारा भगवान की आराधना की जाती है हम लोग जन्म में सोचे ये हमारा जीवन भगवान की आराधना में आराधना में लगा और ये जन्म पसंद हमारी क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा हुई प्रमाण में क्रिया पसंद हमने भगवान का मन को चिंतन नहीं किया तो हमारा ये मन सदस्य है सार्थक है हमारी योगानी सार्थक है जिससे भगवान के गुण गाय जाते तजन काम करना परायुष कर्म मनोवत भगवान ये विश्वात्मा सिद्ध से हरि ईश्वर भगवान का जिससे ध्यान भजन किया जाता है आयु क्षणमात्र नलभ्यते हेमकोटि उत्पत्ति आयु का एक क्षण एक मिनट भी आयु तुमको करोड़ों क्षण के ऊर्जाओं को भी प्राप्त हो सकते हैं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बहुत बड़ा आदमी है और किसी से कहो पर हम तुमको एक करेंगे असर पूरा तुमको देते हैं और हमारे मृतक व्यक्ति को दो तो मिनट के लिए भी उत्तर हो नहीं भी उत्तर तो करोड़ों करोड़ मुद्राओं से भी ये एक क्षण का जीवन नहीं मिल सकता और प्रत्येक दर्शक करोड़ जो अमूल्य जीवन हमारा व्यर्थ के धंधों में चला जाता है व्यर्थ के व्यापार में चला जाता है तथा पालता हानि इससे बड़ी और क्या हानि होगी आयु क्षण अवमात्रम नलभ्य गुण को प्रत्येक दर्शक कर्म दिशा तथा पालता हानि यह बड़ा हानि रुख सब को ले रही अभाग्यम परम उपनिषद वासुदेव स्मर अरे सबसे बड़ी हानि यही है ये नहीं बड़ा हानि है और सबसे बड़ा प्रतिबंध है दुर्ग भी यही है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यही है या जो हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते में बच्चे को देख करके अपनी ममता पर वस्तु पर को देख करके तो चित्त भूत होता ही है और प्राणी मार्ग को पर देख करके गया हमें हृदय भूत हो किसी ने हमको सुनाया कि ये डॉक्टर जा रहा था अस्पताल में अपनी ड्यूटी और पत्नी जो अपनी के जा रहा था उसमें एक के बच्चे को कीचड़ में फंसा हुआ है वो निकला नहीं जा रहा था कीचड़ में फंस रहा तब उसको देखता हुआ पहले तो आगे बढ़ गया चला गया और बार बार उसका ध्यान वो घुस गया पीछे में और सूरज की व्यक्ति को निकाल करके बाहर प्रदान की तो इसलिए दया से और संतुष्टिया ये होगा और प्रारब्ध से जो मिल जा उसमें ये संतुष्ट रहता है न्याय से और प्रारंभानुसार जो हमको मिल रहा है भगवान भी कृपा की और क्या ऋण देने का और परमात्मा ने दिया है इसमें संतोष करो बड़े ऋणों को काम किया है और अपनी उंगलियों को में रखो क्या जनार्दन और ये तीन कारण भगवान को प्रसन्न करने के हैं प्राण मार्ग पर दया करना भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना जो भविष्य सामने आ रहे प्रस्तुत हो रहा है अनुकूल तो हो उसको भगवान की सता पी लो नहीं समझाइए तो क्या करें तो उनकी रीति है आप सरकार बताते हैं कि यह केवल ये कर्म सत्र में सुख तो दुख हो आत्मान शोधन से ही समसत्ता स्थिति ये नारद जी ने ढूंढ को ये बात बताई है बेटा देखो नेक्स्ट में चाहिए विस्तम परमात्मा का जिसके लिए जैसा स्थान है उसमें उसे संतुष्ट रहना है यश मिनट चाहिए विस्तम सदैव सुख दुख हो आत्मा में सुख है सुखदेव मत है सुखे सती प्रेम छीय और दुखे सती पापन छीय तो आत्मा में सोच है प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे संतुष्ट हो रहे हैं अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में एक से कैसे बने वो वही विचार करें वर्णन किए जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब प्रकार से तुम सुखी होते हो तो उस समय तुम्हारे सुनने का अक्षर किसी व्यक्ति से पूछो तो वह तुम्हारे पूर्ण नष्ट हो रहे हो ये परिस्थिति का अनुकूल वो में मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं वो परिस्थिति में और पाप नष्ट पर जब होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति होती है तुम दुख में होते हो और पाप हो पापों का फल है ना दुख वो क्लेश तो हम तो समय दुखी अवश्य है क्लेश अवश्य है मार्ग में व्यापार में घाटा है पर उसका मूल पाप का जब हो रहा है तो इसलिए दुखी होने की जाता है तो दुख के अपने पाप का मुख्य है ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नष्ट होते जाए इसलिए घबराने के लिए जीविका पाप दुख का मूल नष्ट हुआ तो पूरी विगत हो जाए और सुखे सुखे पुण्य नहीं और जब सुख की परिस्थिति होती है तो समय पुण्य का विनाश होता है क्या प्रसन्न हो रहे हो इसका मूल तक वहां नष्ट हो रहा है पुण्य तो नष्ट हो गए हैं तो तब भी हो इसलिए सुख दुख है सभी सभी प्रेम चाहिए थे दुखी पापन चाहिए थे ये आत्मान को शायद हमारा पावन इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को संतुष्ट रखता है ठीक रखता है तो सुख में लगाता नहीं है सुख में संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है ना ऐसी भगवान की संपत्ति जो मोक्ष है उसमें तो हमारा अधिकार है ही है वो तो नहीं है पर इस तरह की जीवन व्यतीत करो जैसे तत्ती अनुकंपान सुसमी क्षमा शंकराचार्य श्री कृष्णदास महाराज लखनऊ में गए थे हम भी उनके साथ थे एक बड़े पंडित थे कार्य में कराते थे संस्कृत के बड़े पंडित थे वो दो चार विद्यार्थियों को साथ लेकर के आए शंकराचार्य का दर्शन करने और आकर के बड़े उन्होंने एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया तो महाराज ये मानव शरीर हमको अपने प्रेरणों से मिला है अपने कर्म से मिला है या भगवान ने कृपा करके दिया यदि हमको अपने कर्म से मिला है अपने प्रेरणों से मानव शरीर मिला है तो इसमें भगवान की क्या करता हूं ये भगवान ने कृपा करके ही दिया है हमको तो फिर हमारे ऊपर प्रताप तो रहती सब कोई मनुष्य नहीं देते तो किसी को बोला किसी को बोला किसी को योग बना वह सत्ता दोनों में दोनों में समझे दोनों बात नहीं बनती ये उन्होंने प्रश्न रखा तो जब गुरु जी उसका उत्तर देने लगे अरे वही हमारे ऐसे उत्तर मत भगवान अन्य अन्य हो सकता था भगवान ने कृपा करके उनको मनुष्य नहीं तब जब पूंजी थोड़े घूमने पाए थे तब तक उनके साथ जो उन्हें पंडित उनको पढ़ाते थे उनके साथ थे उन्होंने कहा महाराज मैंने आपका अभिप्राय समझ लिया अभी मेरे विद्यार्थी हैं मैं आपके सामने उनको ठीक समझाया देता तो वो उन्होंने कर हमने तो सही उसको समझाने लगे कि देखो मैं ऐसे समझो जब तुम परीक्षा देने जाते हो तो विकल्प भी प्रश्न आता है कोई पूछता प्रश्न विकल्प में जो प्रश्न होते हैं उनमें से एक पूछा जाता है उसको कई कई से प्रश्न करो चाहे इस प्रश्न को उत्तर दे दो चाहे इस प्रश्न का उत्तर दे दो नंबर मिल जाएंगे तो कहते हैं ऐसे ही दो प्रश्न आए थे तो उनमें से एक प्रश्न पूछा था ये आदमी बहुत सरल था उसने तो दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखा है और नीचे उसने ये लिख दिया कि यद्यपि आपने दोनों में से एक प्रश्न पूछा है पर मैं इन दोनों का उत्तर लिख देता हूं आप मेरे किसी उत्तर को देख की धंधा दे सकते परंतु उसमें कमी लिखी कि एक तो उत्तर उसका सही था और एक और उसका पास में होना निरीक्षक के तो हाथ में पहुंचे और प्रशासन है उसके सही उत्तर को देखे तो उसे पास कर सकता है उसके गलत उत्तर को देखे फिर कर सकता है इसी प्रकार उन्होंने कहा हमने भगवान के सामने कोई और पाप दोनों कर रखे गलत काम भी कर सकते हैं सही भी कर सकते हैं तो सभी कृपा करके हमारी तीनों की ओर दृष्टि डाल करके भगवान हमको मानव शरीर जैसे हैं तो हमारे कर्म भी है भगवान की कृपा भी तो दोनों तो भगवान ने अनेक मामलों में से निकाल करके हमको मानव लेने में भेजा हमारी उम्र की ओर दृष्टि डाली है गया थी मनुष्य तो भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए ना عثماني في العرب الرسمي عثماني في الرسم शंकर और पार्वती जा रहे हैं सनत कुमार और घर से लगने मस्ती में चले जा आप चिंतन करके चले जाते तो उन्होंने भगवान शंकर को पार्वती को प्रणाम होना नहीं किया आत्मदृष्टि से सब है कि आत्मा को भगवान शंकर को अपना आत्मरूप है तो क्या उसको प्रणाम किया जाए ऐसे मस्ती में चले आ रहे थे पार्वती बारे में कि बड़ा ठीक है हम लोगों को देख करके भी पहले प्रणाम नहीं किया और सजा को सूच लोगे और संत प्रवास सूत्री होने चले फिर एक बात मुझे अरे तेरी अकल सुधारने वाली है तो माता जी इस मामले में तो बड़ा आनंद है ब्राह्मण व्यक्ति समझा करो भजन करो नारा हो और कोई मानव ब्रह्मचारी हमसे कोई भाव नहीं है शंका करने की आवश्यकता नहीं है यहां पर हम रह सकते अचरदा ऊट होगा ऊट की होने से तो एक बार भगवती को मिले बोले तो अपने लिए कल ठिकाने आई तो माता ने इस मंदिर में तो बढ़ा रहे मैं बस टट्टी देने की जरूरत लंबी गर्दन किया हो हाल में फूल पत्ती और बड़ा पार्वती जी बोले प्रसन्न है कि जहां जाता है दुश्मन में जाता है प्रसन्न रहता है अच्छा हम प्रसन्न है तू हमसे कोई डर मानो अनंत कुमार बोले माता जी और हम क्या आपसे डर मानो आपकी वही कृपा है और आप ही हमसे कुछ मांगे हमें कुछ नहीं अच्छा बोले तो हमारे पुत्र होकर के सदानंद के रूप से भगवान पार्वती जी राम भारतीय रूप में प्रकट तो प्रत्येक जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है उसमें संतुष्ट जो रहता है उसको भगवान पसंद करते प्रत्येक लंबान सुसंक्षणानों भूयाने रात न प्रसन्न विकास नमस्ते हृदय से वाणी से भगवान के गुणगान करते हैं भगवान की कृपा का अनुभव करना भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना